परम पिता परमात्मा का स्मरण सर्वशक्तिमान बल से परिपूर्ण परमात्मा प्रणाम ध्वनि प्रेमी सज्जनों परमात्मा को हम विभिन्न गुणों से युक्त देखते हैं परमात्मा को विभिन्न गुणों से युक्त स्वीकार करते हैं जिन गुणों को परमात्मा में देखते हैं उन गुणों में शक्ति बल ये गुण भी प्रमुखता से होता है शक्ति रहित परमात्मा की हमारे मन में कोई कल्पना नहीं होती है कोई विचार नहीं होता है जो परमात्मा को नहीं मानते हैं उनकी बात अलग है लेकिन जो भी परमात्मा को मानते हैं वो परमात्मा को शक्ति संपन्न मानते हैं और उसको मनुष्य आदि प्राणियों से बहुत बड़ी शक्ति स्वीकार करते हैं अनंत शक्ति से युक्त परमात्मा को स्वीकार करते हैं चूंकि परमात्मा को सृष्टि रचयिता सृष्टि का पालक संहारक इत्यादि सभी स्वीकारते हैं अर्थात परमात्मा बहुत सारे कर्मों को करता है कर्म बिना शक्ति के बिना बल के नहीं होते हैं इस दृष्टि से प्रत्येक आस्तिक परमात्मा को शक्तिशाली मानता है शक्तिमान मानता है जैसे वो अपने कर्मों को देखता है जब कम बल होता है तो कम कार्य होते हैं अधिक बल होता है तो अधिक कार्य होते हैं अर्थात बल और कार्य के बीच में संबंध हमारा प्रत्यक्ष है अनुमान भी है एकदम स्थिर सिद्धांत के रूप में हमारे अंदर बैठा हुआ है और जब हम परमात्मा के अनंत कर्मों को देखते हैं विचारते हैं तो स्वाभाविक है उन कर्मों को करने के लिए जिस बल की आवश्यकता है उसको भी हम सहज ही स्वीकारते हैं उसकी हम परिकल्पना करते हैं परमात्मा का बल इतना होगा परमात्मा का बल कितना हो सकता है जीवन के विभिन्न अवसरों पर हम अपने को असमर्थ पाते हैं विभिन्न अवसरों पर हम अपने प्रयत्न से शक्ति से परिस्थितियों को बदलते हैं बदलने का प्रयास करते हैं कभी कुछ बदल पाते हैं कभी अधिक बदल पाते हैं कभी पूर्ण इच्छा अनुरूप परिवर्तन कर लेते हैं बहुत सारे ऐसे क्षण हैं जहां हम अपने अनुरूप कुछ भी नहीं कर पाते असहाय रहते हैं अपना बल अन्यों का बल शारीरिक बल बौद्धिक बल सब जैसे व्यर्थ हो जाता है कुछ नहीं कर सकते और वो बहुत सारी स्थितियां हम प्राकृतिक रूप से देखते हैं आंधी तूफान बड़े वेग से आ जाए तो हमारी चीजों को उड़ा के ले जाता है हम कुछ नहीं कर सकते इतना वेग बाढ़ बहुत तेज आ जाए तो मिट्टी को काट के ले जाती है बड़े बड़े मकान ढह जाते हैं आधारहीन होने से तो इन शक्तियों के आगे मनुष्य आदिकाल से अपने को विवश पाता है लेकिन शक्ति तो है वहां पर क्रियाएं तो हो रही हैं तो वो अपने और अन्य मनुष्यों से भिन्न किसी शक्ति की कल्पना करता है शक्ति तो है क्योंकि क्रियाएं हो रही हैं वो शक्ति किसकी है अधिकांश आस्तिक उसे परमात्मा के साथ में जोड़ देते हैं मनुष्यों ने कितने भी शक्तिशाली वाहन बना लिए हों टैंक बना लिए हों क्रेने बना ली हों लेकिन इनके सामने वायु के वेग के सामने समुद्र के जल के वेग के सामने पानी के वेग के सामने सब तुच्छ है तो एक बड़ी शक्ति की परिकल्पना उसके मन में बैठती है और उसे वो परमात्मा पर केंद्रित करता है इसलिए जो आस्तिक हैं वो परमात्मा को शक्ति वाला तो मानते ही हैं और इसीलिए परमात्मा से शक्ति की प्रार्थना भी करते हैं बल की प्रार्थना भी करते हैं बलम असी बलम मई थे ही बलम मई दे ही हे परमात्मा आप बल से युक्त हैं मुझे बल प्रदान कीजिए असी बलम मई थे ही जब जब बल की न्यूनता प्रतीत होती है हम परमात्मा को स्मरण कर लेते हैं और हमारी प्रार्थना में बल की प्रार्थना व्यापक रूप से रहती है महर्षि दयानंद ने परमात्मा को जो संबोधन किए हैं उनमें एक संबोधन है हे सर्वशक्तिमंत्र समस्त शक्तियों वाले हे परमात्मा तो परमात्मा को हम शक्तिमान मानते हैं और सर्वशक्तिमान भी मान लेते हैं लेकिन परमात्मा की शक्तियां क्या है परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता क्या है इस विषय में भिन्नता बहुत है किसी सामान्य व्यक्ति से बात करें जन सामान्य में जब परमात्मा की ईश्वर की बात चलती है कि वो है या नहीं है तो प्राय एक तरीके से बात चलती है ये सब कुछ हो रहा है प्रकृति में तो कोई ना कोई शक्ति तो अवश्य है तो परमात्मा को वो शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है लोक व्यवहार में वो जानता है कि शक्ति अलग चीज है और शक्ति वाला शक्तिमान अलग है जैसे वो स्वयं को कुछ शक्तिमान मानता है मेरे में शक्ति है मैं शक्ति वाला हूं ये वाहन इतनी शक्ति वाला है इतने हॉर्स पावर वाला है शक्ति है और शक्तिमान को भी वो मानता है लेकिन परमात्मा के संदर्भ में जब शक्ति की बात करता है तो मात्र शक्ति तक सीमित रहता है लौकिक वस्तुओं में जहां जहां शक्ति दिखाई देती है वहां वहां उसे शक्तिमान भी दिखाई देता है इसलिए वो शक्ति और शक्तिमान दोनों को स्वीकार करता है लेकिन जहां परमात्मा का प्रसंग आता है तो चूंकि उसे कोई यंत्र या कोई वस्तु दिखाई नहीं देती तो परोक्ष रूप से वो ये मान लेता है कि शक्ति तो है क्योंकि इतने कर्म हो रहे हैं लेकिन शक्तिमान कोई है ऐसा वो सहज स्वीकार नहीं करता बस एक शक्ति है परमात्मा क्या है शक्ति है हम परमात्मा की प्रशंसा में शक्ति कह सकते हैं उसको लेकिन सामान्य व्यक्ति परमात्मा को शक्ति रूप ही समझता है यहां आध्यात्मिक व्यक्ति को यह स्पष्ट समझना चाहिए कि शक्ति है तो शक्तिमान भी अवश्य होगा शक्ति है तो शक्ति का आधार शक्ति का आश्रय अवश्य होगा जैसे जड़ वस्तुओं में होता है और जब हम ये स्वीकार करते हैं कि ये सब रचना किसी शक्ति से हुई है बिना शक्ति के बल के ये हो नहीं सकती तो बल और शक्ति का कोई चेतन प्रयोगता भी होगा किसी में बल और शक्ति है तो वो उसका प्रयोग भी कर रहा है प्रयोगता भी है कोई वो शक्तिमान है तो परमात्मा को जब शक्ति संपन्न हम स्वीकार करते हैं तो मात्र शक्ति रूप समझ के उसे छोड़ ना दें इसलिए संबोधन दिया हे सर्वशक्ति मन हे शक्ति वाले आप शक्ति से युक्त हैं जब परमात्मा की शक्तियों पर विचार करते हैं परमात्मा की क्या क्या शक्ति है कितनी शक्ति है तो समस्त शक्तियां परमात्मा में देखी जाती हैं ये पृथ्वी चल रही है परमात्मा की शक्ति से सूर्य तप रहा है परमात्मा की शक्ति से पेड़ पौधे उग रहे हैं परमात्मा की शक्ति से हमारा जीवन चल रहा है परमात्मा की शक्ति से समस्त चीजों में हम परमात्मा की शक्ति देखते हैं और इसलिए परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानते हैं तो उसका एक अर्थ यह हुआ कि सारी शक्तियां अर्थात इस संसार में जितनी भी शक्तियां हैं उन सब शक्तियों वाला परमात्मा है संसार में जितनी भी शक्तियां दिख रही हैं वो सारी शक्तियां परमात्मा की हैं इस रूप में परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो इसका सहज ही दूसरा अर्थ निकलेगा अर्थापत्ति रहेगी कि अन्य कोई वस्तु शक्तिमान नहीं है अन्य किसी वस्तु में कोई शक्ति नहीं है जब सारी शक्तियां परमात्मा में हैं जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की शक्ति से हो रहा है तो अन्य कोई शक्ति इससे भिन्न नहीं है अन्य कोई शक्तिमान उससे भिन्न नहीं है और ऐसा अनेक आस्तिक लोग मानने भी लगते हैं हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं है प्रकृति की भी अपनी कोई शक्ति नहीं है क्योंकि वो जड़ है वो कुछ नहीं कर सकती ये सब परमात्मा की शक्ति से ही कर पा रही है और ऐसा मानते हुए समस्त शक्तियों का आधार और समस्त शक्ति वाला परमात्मा को ही मानने लगते हैं जितनी भी शक्ति है वो बस परमात्मा की ही है और किसी की कोई शक्ति नहीं है एक आस्तिक व्यक्ति परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानते हुए यहां पहुंच जाता है अब ये नहीं है कि क्या परमात्मा की ही शक्ति है सारी परमात्मा सर्वशक्तिमान है लेकिन उसका तात्पर्य क्या है अर्थ क्या है यदि कोई वाहन चल रहा है वो किसकी शक्ति से चल रहा है शरीर के लिए तो हम कह देते हैं परमात्मा की शक्ति से चल रहा है लेकिन वाहन के लिए आस्तिक व्यक्ति भी सहजता से स्वीकार नहीं कर सकता तो कहेगा मनुष्य की शक्ति से चल रहा है डीजल पेट्रोल की शक्ति से चल रहा है जब हम ये कहते हैं कि वाहन चालक चला रहा है मनुष्य चला रहा है उसका ये अर्थ नहीं होता कि सारी शक्ति उस चालक की या मनुष्य की ही है वो उसका संचालन कर रहा है उसकी अपनी कुछ शक्ति है लेकिन वाहन जितने वेग से जा रहा है जितने भार को ढो रहा है जितने लोगों को ले जा रहा है जितने माल को ले जा रहा है उस सबको वो मनुष्य नहीं ले जा सकता उसके पास उतनी शक्ति नहीं है अर्थात मनुष्य से भिन्न उस वाहन की भी शक्ति हम स्वीकार करते हैं इसी प्रकार से परमात्मा के संदर्भ में भी हमें समझना चाहिए यदि सब्जी पक रही है उसमें उबाल आ रहा है और नीचे से जल और सब्जी ऊपर आ रही है ऊपर की नीचे जा रही है उसमें गति हो रही है क्रिया है तो बिना बल के नहीं करेगी बल तो है किसका वर है वो तो कोई कहेगा कि परमात्मा का ही बल है और दूसरा पक्ष है ये अग्नि का बल है ऊर्जा है नीचे से अग्नि आ रही है उससे यहां पर गति हुई है सीधे सीधे परमात्मा उसको उबाल नहीं रहा है अग्नि वहां कारण है अग्नि से उबल रहा है वो यदि बर्तन में भाप भर जाए ढक्कन हो ऊपर तो ढक्कन ऊपर उड़ जाएगा भाप नीचे से निकल जाएगी जब भाप संग्रहित होगी प्रेशर कुकर में जैसे निकलती वो प्रेशर कुकर के ढक्कन को जिसने ऊपर उठाया वो कौन है वो किसकी शक्ति से ऊपर उठाए तो ये भाप की शक्ति से उठाए भाप में वो शक्ति कहां से आई क्योंकि नीचे अग्नि जल रही थी ये प्रकृति के नियम है प्रकृति की व्यवस्था है ये प्रकृति ऐसी बनी है उसे तो परमात्मा ने किया परमात्मा ने बनाया प्रकृति स्वयं इस तरह से नहीं बन सकती थी किंतु अब ये जो कार्य हो रहे हैं प्रकृति में ये प्रकृति की अपनी शक्ति से हो रहे हैं इसी प्रकार हमारे शरीर में जो हम गतियां करते हैं ये ठीक है आत्मा की शक्ति अत्यल्प है आत्मा की प्रेरणा से इंद्रियां कार्य करती हैं हम चलते फिरते हैं उसमें शरीर की भौतिक क्रियाएं सम्मिलित हैं अंदर रासायनिक क्रियाएं सम्मिलित हैं जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न होती है लेकिन ये ऊर्जा ये बल ये शक्ति किसकी है आत्मा की अपनी नहीं है ये वाहन की तरह से प्रकृति की है तो परमात्मा को जब हम सर्वशक्तिमान कहें संबोधित करें हे सर्वशक्तिमान परमात्मा तो वहां उसकी शक्तियों का स्वरूप हमारे अंदर स्पष्ट होना चाहिए नहीं तो जो समस्त शक्तियों को परमात्मा की मानते हैं जाने अनजाने परमात्मा के प्रति और अधिक श्रद्धा उत्पन्न करने के अतिरेक में उसको समस्त शक्तियों से युक्त समझ लेते हैं और यदि कोई शक्ति परमात्मा में हम कहें ये परमात्मा की नहीं है तो जैसे उन्हें लगेगा परमात्मा को हमने हीन कर दिया परमात्मा में कोई न्यूनता दिखा दी उससे परमात्मा के प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी एक विचार चल चल जाता है और ऐसे ईश्वर को मानने वाले ऐसे भक्त जो समस्त शक्तियां परमात्मा की मानते हैं वो कुछ भी करेंगे परमात्मा से बल की प्रार्थना करेंगे तो उनके मन में ये भाव बैठा रहता है कि परमात्मा जैसे सीधे बल देगा परमात्मा से प्रार्थना करते हुए उनके अंदर ये भाव रहता है कि परमात्मा अपने बल को मुझे देगा वो बल जिससे मैं गति करूंगा वो बल जिससे मैं अधार्मिकों का नाश करूंगा वो बल जिससे मैं धर्म के कार्यों को करूंगा जब धार्मिक व्यक्ति रुग्ण होता है निर्बल होता है तो परमात्मा से बल की प्रार्थना करता है प्रार्थना करना उसका स्वभाव है और परमात्मा से प्रार्थना करने की उसकी आदत है तो प्रार्थना करने लगता है हे परमात्मा मुझे बल दो अब उसके अंदर अर्थ की भावना क्या बनी हुई है जैसे कि परमात्मा ही मुझे ये सीधा बल देगा परमात्मा ही तो देता है क्योंकि परमात्मा का ही ये बल है जबकि परमात्मा ऐसे बल नहीं देता भोजन भी करेगा ये पता है उसको कि बल भोजन से मिलता है ऊर्जा भोजन से मिलती है लेकिन फिर भी परमात्मा से प्रार्थना करेगा परमात्मा मुझे बल दो पता है व्यायाम से बल बढ़ता है लेकिन फिर भी परमात्मा से प्रार्थना करेगा परमात्मा मुझे बल दो और साथ में ये भावना है उसके कि भोजन से जितना बल मिलता है उससे कुछ अतिरिक्त बल मुझे मिलेगा व्यायाम से जो शक्ति आती है उससे अधिक कोई शक्ति मेरे को प्राप्त होगी ये भावना काम करती रहती है किसी आकस्मिक स्थिति में फंस जाए दुर्घटना में और वहां कुछ बल वाला कार्य करना पड़ रहा हो और हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर पा रहे तो प्रार्थना करते हैं और वहां फिर आप देखिए वही भावना काम करती है जैसे कि परमात्मा हमें सीधा बल देगा और उस बल से ये कार्य होगा परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानना है लेकिन परमात्मा की शक्ति जो है उसे ही तो उसे मानना है जो शक्ति परमात्मा की नहीं है वो भी उस पर आरोपित करना ये भी एक प्रकार का मिथ्या ज्ञान है परमात्मा को ठीक ना समझना है अधिकांश धार्मिकों में ये भाव रहता है और अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को करते हुए लोकोपकार के कार्यों को करते हुए वो परमात्मा से ऐसी ही शक्ति की कामना करते रहते हैं जबकि परमात्मा ऐसी शक्ति नहीं देता परमात्मा ने व्यवस्था की है शक्ति की परमात्मा ने बुद्धि दी है ज्ञान बल है शरीर दिया है भौतिक शक्ति है लेकिन परमात्मा सीधे सीधे बल दे दे शक्ति दे दे ये तो नहीं होता जो परमात्मा को ठीक मानते हैं वो भी ये नहीं कहते कि परमात्मा रो, रोटी दे देगा रोटी हमें बनानी होगी लेकिन बल के संदर्भ में वो भी इसी प्रकार की मान्यताएं मान करके चलता रहता है चलता रहता है बोध ही नहीं होता परमात्मा की सर्वशक्ति मत्ता को इस रूप में महर्षि ने कभी नहीं खोला है कि समस्त कार्य परमात्मा ही कर रहा है ये कार्य परमात्मा की व्यवस्था से हो रहे हैं ठीक है और सर्वशक्तिमान का मतलब है कि परमात्मा अपने कार्यों को करने में अन्य की सहायता नहीं लेता सर्वशक्तिमान का महर्षि का अर्थ ध्यान देने योग्य है ये उसका वास्तविक अर्थ है हम कभी केवल प्रार्थना वशात ऐसा बोल रहे हैं हे प्रभो आपके कारण ही मेरे सारे कार्य हो रहे हैं ये कौन प्रयोग है अगर साधक समझते हुए इस वाक्य को बोल रहा है कि मेरे समस्त कार्यों के पीछे आपकी ही शक्ति है आपका दिया हुआ ज्ञान है आपकी दी हुई व्यवस्था है वो ये मानते हुए कि मैं भी प्रयत्न कर रहा हूं प्रकृति का भी बल है ये जानते समझते हुए यदि गौण रूप से बोल रहा है तो ठीक है लेकिन जब ये समझने लग जाता है कि आपके द्वारा ही ये सारा हो रहा है क्योंकि आप सर्वशक्तिमान है अब चूंकि धार्मिक व्यक्ति भी एक तरफ अपने मन को लगा लेता है और दूसरी सारी चीजें सोच नहीं पाता व्यापकता से अगर ये माना जाए कि हमारे समस्त कार्य परमात्मा की शक्ति से हो रहे हैं वही करवा रहा है तो जो दुष्टों के कार्य हो रहे हैं दुष्ट जिन कार्यों को कर रहे हैं वहां भी वो परमात्मा ही का ही दिया हुआ बल है वो ही करवा रहा है ये भी हमें मानना होगा लेकिन या तो धार्मिक व्यक्ति वो विचार नहीं करता और यदि कोई कहे यदि समस्त बल शक्ति परमात्मा की ही है तो ये जो दुष्ट हैं गलत कार्य करने वाले इनकी बल शक्ति भी परमात्मा की ही है परमात्मा ही करा रहा है तो फिर वो कहते हैं नहीं कि वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो जब वो दुरुपयोग कर रहे हैं तो कोई सदुपयोग भी कर रहा है तो जहां दुरुपयोग करने में किसी की स्वतंत्रता है तो सदुपयोग करने में भी स्वतंत्रता है उसका बल है यदि कोई दुष्ट हमें गोली मार दे गोली बड़े वेग से आकर के हमारे हृदय में लग जाए वो जो गोली चल करके आई है वो परमात्मा के बल से आई है परमात्मा ने उसको बल दिया है कि जाओ और इसको लग जाओ और कुछ धार्मिक इस रूप में स्वीकारते भी हैं जितनी भी जिसकी वृद्धि हो रही है बल वृद्धि है वो सब परमात्मा की व्यवस्था से है ऐसे में वो परोक्ष रूप से स्वीकार कर लेते हैं ये जो दुष्ट व्यक्ति हैं इनकी भी जो वृद्धि हो रही है इनके बल की वृद्धि भी परमात्मा ही कर रहा है एक तरफ वो उनको गलत मान रहा है और एक तरफ उनके बल की वृद्धि को भी परमात्मा के द्वारा ही वृद्धि मान रहा है तो परोक्ष प्रभाव क्या आएगा कि ये बल भी परमात्मा का ही दिया हुआ है इनको हम क्या करें हमें तो केवल सहन करना है जब परमात्मा ही उनको बल दे रहा है हम तो कुछ कर नहीं सकते हमें कुछ करना भी नहीं चाहिए इनके प्रति यदि ये कार्य रुकवाने होते तो परमात्मा ही इनको बल न देता लेकिन परमात्मा को कर्म फल भुगवाने हैं इसलिए दुष्टों को बल दे रहा है तो हमें रोकने की जरूरत नहीं है ये आध्यात्मिक चिंतन परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानते हुए भी कहां ले जाके छोड़ता है निष्क्रियता अज्ञान में दुख में कष्ट में परमात्मा सर्वशक्तिमान है परमात्मा को हम सर्वशक्तिमान इसलिए मानते हैं इसलिए संबोधित करते हैं क्योंकि उससे हमारा जीवन अच्छा बनता है परमात्मा को यथार्थ रूप में शक्तिमान मानना सर्वशक्तिमान मानना आवश्यक है ईश्वर को मानते हुए उसको सर्वशक्तिमान मानते हुए जो बहुत सारी विसंगतियां हैं उसमें एक कारण ये कि परमात्मा की शक्ति क्या है कितनी है इस पर कोई विचार नहीं करते असीम अनंत सारी शक्तियां परमात्मा की सब चीजें परमात्मा ही करवा रहे तो मैं दयानंद ने यह स्पष्ट किया परमात्मा अपने कार्यों को करने में किसी की सहायता नहीं लेता ये उसकी सर्वशक्तिमत्ता है हम अपने कार्य स्वयं नहीं कर पाते अन्यों की सहायता लेते हैं अन्यों को सहायता देते हैं अन्य भी नहीं कर पाते अपने कार्य लेकिन परमात्मा के जो कार्य हैं उनको वो अपने आप करता है प्रकृति के परमाणुओं में सत्वर स्तंभ में यदि व्यवस्था करनी है तो वो कर सकता है प्रकृति को चलाना है प्रकृति स्वयं चलेगी उसको दिशा देनी है केवल उस रूप में परमात्मा की शक्ति है परमात्मा जिसको जो फल देना चाहता है वो दे सकता है परमात्मा आत्माओं को विभिन्न शरीरों में पहुंचा सकता है वो है उसकी शक्ति तो परमात्मा को हम जब सर्वशक्तिमान माने तो उसको शुद्ध रूप में सर्वशक्तिमान माने तो परमात्मा को सर्वशक्तिमान संबोधन करना हमारे लिए हितकारी होगा नहीं तो यही संबोधन हे सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा ये हमारी लौकिक उन्नति में भी बाधक बनेगा और आध्यात्मिक उन्नति में भी बाधक बनेगा तो महर्षि ने परमात्मा को संबोधन दिया हे सर्वशक्तिमान उस रूप में हम परमात्मा को स्वीकार करें उस भावना से मन में भाव रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे ओ